खबर कर दो रघुनंदन को खड़े हम दर्प दर्शन को खबर कर दो रघुनंदन को खड़े हम दर्प दर्शन को लाख चो राशि स्वांग धर पाकर कष्ट पार जन्म मरण से हो दुखी आए प्रभु के द्वार चुकाए हुए गर्दन को खड़े हम दर पे दर्शन को खबर कर दो रघुनंदन को खबर कर दो रघुनंदन को खड़े हम दर्प दर्शन को खड़े हम दर्प दर्शन को यद्यपि प्रभु ही ने दिया नाम रूप गुण भार यद्यपि प्रभु ही ने दिया नाम रूप गुण भार किंतु भक्त संपत्ति बिना यह सब है बेकार करे क्या लेकर इस धन को करे क्या लेके इस धन को खड़े हम खड़े हम पे दर्शन को खड़े हम पे दर्शन को खबर कर दो रघुनंदन को खबर कर दो रघुनंदन को मन को भाता है सदा मन को भाता है सदा माया का व्यवसाय भजन भयंकर देखता बुद्धि भ्रष्ट है हाय उठाए कैसे जीवन को उठाए कैसे जीवन को खड़े हम दर पे दर्शन को खड़े हम दर पे दर्शन को खबर कर दो रघुनंदन को खड़े हम दर पे दर्शन को खड़े हम दर पे दर्शन को उठाए कैसे जीवन को उठाए कैसे जीवन को खड़े हम दर पे दर्शन को खड़े हम दर पे दर्शन को नौका पापों से भरी डोल रही मझधार नौका पापों से भरी डोल रही मझधार कुछ डूबे कुछ डूबती एक तुम्ही आधार उबारो राध श्याम जन को उबारो राधे श्याम जन को खड़े हम दर पे दर्शन को खड़े हम दर पे दर्शन को खबर कर दो रघुनंदन को दौड़े खबर कर दो रघुनंदन को खड़े हम दर पे दर्शन को खड़े हम पे दर्शन को खड़े हम पे दर्शन को झुकाए हुए हैं गर्दन को झुकाए हुए हम गर्दन को खड़े हम पे दर्शन को खड़े हम पे दर्शन को खड़े हम दर्प दर्शन को सतानंद जी ने दिया आकर यह संदेश सिया स्वयंवर के लिए बुला रहे मिथिले समाचार सुनकर उठे लखन और रघुनाथ धनुष महोत्सव देखने चले गुरु के साथ रंगभूमि आए जभे दोनों राज किशोर नर नारी गण के नयन लगे इन्हीं की ओर सब थकित हुए सब चकित हुए ऐसा वह दरस पुनीत हुआ जिसके जैसी भावना रही वैसा ही उसे प्रतीत हुआ प्रत्यक्ष वीर का बलशाली और निपालों ने साक्षात भयानस रस रेखा भयभीत कुटिल महिपालों ने संपूर्ण रौद्र रस एक जगह जब कपटे यसुरो ने देखा श्रृंगार रस तभी पूर्ण रूप मिथिला निवासियों ने देखा विभत्स लखा विभत्सो ने करुणा मिथिला की रानी ने भरपूर शांत रस देखा तब तेजनक राय से ज्ञानी ने भक्तों ने अद्भुत रस पाया भक्तों ने अद्भुत रस पाया से राम रूप मानस देखा सखियों ने हास निहारा तो कवियों ने नो रस देखा पहुँचे मंडप में जबे कौशल राज किशोर चाव भरे चितवन से देखा चारूर नीचे ऊंचे सब दर्जों में शोभा बिक्री सी पड़ते थे उत्सव निहारने को जनता सागर की भात उमड़ती थी अनगिनती राजाओं का दल शोभायमान था मंचों पर पीछे महिलाएं राज रही महलों के मध्य झरोखों पर नीचे मंत्रियों सहित निपते ऊपर मुन्नियों का आसन था उससे ही सटा हुआ सुंदर बड़ी जटिल एक सिंहासन था लालों के चपल लोचनों ने कर ले देखा भाली पल में फिर महादेव ने धनवा पर सरसरी दृष्टि डाली पल में लक्ष्मण के लाल लाल लोचन वीरों को जब विलोकत थे राघव के तब गंभीर नयन सीता के लिए खोजते थे अब रगमंडप मध्य कौशल के युगल कुमार है पट पावड़े बन भक्त जन उस रूप पर बलिहार है निपगण सितारों की तरह थे उस स्वयं स्वयंवर गगन में श्री राम लक्ष्मण वहाँ पर रविचंद्र समताकार है मंडप शरीर समान है अंतकरण मिथिलेश है पहुँचे वहाँ पर प्राण सम रघुवंश के अवतार है गुरु कवेश्वर कवीश्वर घाट गायक चित्रकार समूह में वह चेतना आई दशोदिसी हो रहे जयकार है हो रहे जयकार है हो रहे जयकार है पहुँचे विश्वामित्र तब राम लखन के साथ स्वागत को आगे बढ़े मिथिला के नरनाथ आगे थे रघुबर गांध सुवन पीछे समूह था मुनियों का मध्यस्थल में था दिव्य दर्श उन श्यामल गौर सुकुमारों का दोनों रघुवंशी राजकुमार जिन जिन पर दृष्टि डालते थे वे सभी प्रभावित हो होकर इनकी हो ओर निरखते थे मानो दो नटवर जादूगर मोहिनी डालने आए हैं मानो दो नटवर जादूगर मोहिनी डालने आए हैं या बलशाली महिपालों का कसबल निकालने आए हैं सब देखभाल कर मुनि बोले रंगशाला खूब सजाई है उत्तर में कहने लगे जनक प्रभु की ही यह प्रभुताई है दिखलाया पाहुनों को मंडप भली प्रकार बिठलाया मणि मंच पर निपने कर सत्कार